ज्ञानी है सब भगवान के भक्त है कैसे है शंकर जी बताते उमा अवधवासी नर नाथ तो सब कृदात रूप है कृदात कौन होता है आप देखो शास्त्र में बार बार आता रहता है जो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान है परमात्म भाव में स्थित है पराशक्ति प्राप्त है वही कृतार्थ जब तक वो प्राप्त नहीं तब तक कृतार्थता नहीं आती कृतार्थना कृतकृतता जो करना था तो सब कर लिया ये भाव तभी आता है जब परमार्थ सिद्ध हो तो। अयोध्यावासी वैसे भी परमार्थ सिद्ध हो अनेक जब अयोध्यावासी जितने भी स्त्री पुरुष है तो पूर्व जन्मों के ऋषि नहीं है वे सब संकार करके वहां आकर के बात कर रहे हैं सब पहले से सिद्ध है तो भगवान के राज्य में आकर के बात करें ऐसा सौभाग्य प्राप्त करें साधारण व्यक्तियों को थोड़ी संभव इसलिए सबसे सब परम ज्ञानी है परम भक्त है अयोध्या होकर भगवान का उपदेश भी भगवान उनको उपदेश देते हैं कि उनके लिए अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शन है जैसे भगवान उपदेश देते हैं तो उनका भगवान का मंतव्य ये है कि अन्य लोग हैं वो जो आज के जो राजा लोग होंगे उनका ये काम है कि प्रजा के ऊपर शासन को कहीं करें उनको धर्म की शिक्षा देने की भी व्यवस्था करें स्वयं शिक्षा देवे अन्य लोगों से इस प्रकार के विचित्र आदि है उनका भी पालन पोषण करें संतों महात्माओं का पालन पोषण करें उनके द्वारा भी सबको शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करें ये सब राजाओं के लिए भी इसका सभी निर्धारण मदद कर दिया और फिर प्रजा की तरफ कर दिया कि फिर इनको चाहिए कि सब लोग जाएंगे अध्यात्म शिक्षा ग्रहण करें जैसा भगवान ने उपदेश दिया उसी प्रकार से हम अन्य लोग भी करें इसलिए कर दिया अन्यथा अयोध्या वासी तो स्वयं प्रकार ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक ज्ञान हो जहाँ जहाँ भगवान ब्रह्म परमात्मा स्वयं जहाँ पर राजा हो वहाँ के अयोध्या वासी सब प्रकार होने ही होंगे ब्रह्म अब देखो लक्ष्मण जी की इसी प्रकार से बताते हैं कहते ब्रह्म कौन सच्चिदानंद घन जो सब स्वरूप है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप है वही ब्रह्म है वो उसी के मानवीय रूप धारण करके भगवान कई भाग किए हुए हैं और यहाँ पर अयोध्या के राजा बने हुए हैं तो जहाँ पर ऐसे भगवान ही आकर के प्रथम परमात्मा ही आकर के राजा बन के तो होगा वो अयोध्या वासी तो यानी भक्त से सिद्ध तो होंगे होंगे इस बात की शंका नहीं करनी चाहिए कहीं भगवान ने शिक्षा देखिए एक बार सुख सोई परमात्मा ब्रह्मन रूपा बोलिए रघुकुल भगवान ने सबको बुलाया ये उपदेश हो गया फिर बहुत दिन की बात इस प्रकार से भगवान के राम राज्य की व्यवस्था चल रही है बस बस बीते चले जा रहे हैं और फिर ऐसा समझ लो कि भगवान के जो लीला जितनी है राम राज्य की स्थापना की लीला थी वो समाप्त प्राय करा रही अंत की ओर आगे बढ़ती चली जा रही है अब भगवान इसके बाद अपनी लीला संग्रहण करके अपने साकेत धाम को वैष्णव धाम को जाने का विचार बनाने वाले उसका वर्णन आगे नहीं आता है लेकिन जाने वाले में मान हम्म, तो जब ये देखा तब वो समय प्रसिद्ध की भी भगवान से मिलने के लिए आए इस बार की घटना इस प्रकार की तो प्रसिद्ध मुनि आए भगवान के पास आए जहाँ राम सुख धाम सुहाये जहाँ भगवान राम आनंद धाम भगवान थे वहाँ अब इतने बार आता रहता है सुख धाम सच्चिदानंद आनंद स्वरूप तो बार बार बोलते बोलते ये बात चित्र में बैठनी चाहिए कि आनंद स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही और जहाँ कहीं आनंद मालूम होता है वो सब धाम की है के लिए सुख है नहीं सुख की भ्रांति यथार्थ में आनंद सुख परमात्मा में ही है और जहाँ आनंद है वही प्रेम भी होना चाहिए ये स्वभावता है और है भी अपना सत्ता स्वरूप परमात्मा स्वरूप हर व्यक्ति है हर प्राणी है और उसी को उसी में सबसे अधिक प्रेम भी है लेकिन उसे पता नहीं कि आत्मस्वरूप परमात्मा आनंद स्वरूप से हृदय में बैठा हुआ है और उसी में हमारा प्रेम है ही हाँ? और उस प्रेम को वो सुपर सही में करता है दान करता है वही सुख भी समझता है वही प्रेम भी करता है ये सब धर्म की अपने आत्मस्वरूप परमात्मा से बाहर यदि कहीं वो हो सुख या आनंद समझता है तो वो धर्म की है और उन स्थानों में जहाँ सुख समझता है वहाँ प्रीति भी उसकी होती है वो प्रीति भी उसकी ध्यान की है यथार्थ में वो प्रीति है इसलिए भ्रांति का निवारण करवाने क्या है कि अपने आप समझोगे आनंद स्वरूप क्या है अपने हृदय कैसे है वो हो और वही अपनी प्रीति ही उसी प्रीति को उद्घाटित करो पहचान और जानो तो ऐसा नहीं कहते परमात्मा में प्रीति है नहीं तो एक बनावटी प्रीति करो जबरदस्ती ऐसा नहीं है परमात्मा में तो प्रीति है ही है उस प्रीत को पहचान परमात्मा आनंद निधान है सुख निधान है तो कहते हैं सुख निधान भगवान के पास आनंद निधान भगवान के पास बच्चे सीधे पहुंचे आनंद निधान के पास बच्चे जी को पहुंचे बच्चे जी जब भगवान राम के पास पहुंचे तो कहा कि हम कहा जा रहे हैं हम आनंद निधान भगवान के पास जा रहे हैं तो जब भगवान ने अवतार लीला कारण की शिशु बाल काल में थे तब वशिष्ठ जी आए राजभवन में और भगवान का नामकरण किया तो क्या समझ करके नाम किया नामकरण किया जो सुख धाम राम नामा अखिल लोकदायक विश्रामा बस ये वशिष्ठ जी के वचन है और वो भूले नहीं आज भी वशिष्ठ जी वही समझ करके आए भगवान जिनका नाम राम भर जाए क्यों रखा है राम नाम क्योंकि वो आनंद सिंधु है तो इतने दिनों तक सब दर्शित भी आनंद सिंधु आनंद सिंधु करके भगवान को देखते रहे अब उन आनंद सिंधु भगवान के पास हो नहीं आनंद सिंधु भगवान को कोई कैसे देखता है कोई कैसे देखता है लेकिन वशिष्ठ जी की दृष्टि भगवान राम है आनंद सिंधु ही है दशरथ जी जब वो शुद्ध रूप में प्राप्त होकर के हो गए परमानंद उनको भी प्राप्त हो गया लेकिन वो ये नहीं जान पाए परमानंद क्या हो गया वो तो ये समझे कि हमें पुत्र प्राप्त हो गया इसलिए परमानंद है परमात्मा की प्राप्त हुई इसलिए परमानंद हो गया ये जान पाए वो अपने भगवान राम का पुत्र रूप में प्राप्त करते थे उनको भी परमानंद हो गया लेकिन पुत्र प्राप्त हो गया उनकी विशेष रूप से पुत्र विशेष प्रत्यक्ष ये भगवान राम को जब देखते हैं पुत्र रूप में देखते हैं इसी जब देखते हैं दशक भगवान राम को देखते हैं तो पुत्र और शिष्य रूप में नहीं देखते हैं सचिव भगवान राम जैसे दशरथ जी के पुत्र हैं जैसे वशिष्ठ जी के शिष्य हैं हालांकि भगवान राम वशिष्ठ जी के सामने शिष्यता का व्यवहार करते हैं वशिष्ठ जी गुरु हैं भगवान राम शिष्य हैं लेकिन वशिष्ठ जी उनको भगवान राम को जब वो शिष्य की तरह से व्यवहार करते हैं वशिष्ठ जी के सामने तब वशिष्ठ जी को भगवान राम की लीला देख करके संकोच लगता है अरे कहाँ आनंद सिंह पर ब्रह्म परमात्मा और कहा हमारे सामने शिष्य बन करके हमारे हाथ जोड़ रहा है पांच छू रहा है ये सब कर रहा है तो उनको एजुकेशन लगता करो लेकिन फिर भी क्या करें लीला भगवान की हो रही है लीला में सहयोग करना है इसलिए फिर भी ऊपर से उसी प्रकार का वो भी स्वीकार करते इसी प्रकार जैसे ये सब अब बसे की यहाँ बताने आ रहे हैं कैसा हमने सब क्यों किया करना पड़ा बाध्यता थी वशिष्ठ जी के सामने वो सब करना पड़ा ये बता रहे भगवान राम ने वशिष्ठ जी जब आए तब उन्होंने बड़ा आदर किया जैसे एक गुरु आता है उसके आदर करते हैं वैसे उन्होंने आदर किया और पद पखारी पादोदीना भगवान के चरण जो है पखारे और उनका जल जो है लेकर के अपने से पर डाला पादो मैंने इस प्रकार से ऐसी एक बार आप देखेंगे कि महाराज दशरथ ने बच्चे से कहा कि कल आपने कह दिया राम का राज्य अभिषेक होना है तो आप उनको राम जी को वो उपदेश शिक्षा दी थी कैसे राजा राज्याभिषेक होगा तुमको क्या करना चाहिए इसकी सूचना भी दे तो जब तक वशिष्ठ जी भगवान राम के पास पहुंचे उनके भवन में तब उस समय श्री भगवान ने वहां विस्तार से वर्णन है कि भगवान ने वशिष्ठ जी से कैसे आदर किया उनसे कहा कि भगवान ये आपका गुरु का सेवक के घर में आना ये तो बहुत बड़ी बात है हमको आपने आदेश दिया होता हम स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित होते क्या सब बातें वहाँ बोलिए तो वहाँ पर जैसे भगवान ने बच्चे जी का आदर सत्कार किया है वो विस्तृत वर्णन तो वहाँ पर सीता जी जो है फिर वो जल लेकर के आती है अवसर फिर उनसे फिर भगवान को अर्घ देती है लाकर के उनके अंदर बैठाने के लिए आदर पूर्वक प्राचीन कथा है कि जहाँ उनको जब द्वार कराने तो जब रास्ते में छोटे छोटे गलियों से रास्ता बनाओ और उसी के जहाँ जहाँ धारा जल्दी बन गई उसी के ऊपर चलता हुआ अतिथि फिर अपने अंदर आता है तो उसको आसन पर उठासन में बैठाते हैं ऐसे करके आसन के चरण हुए थी उस समय थी अब आज लगता है सीता जी नहीं है अकेले भगवान का कोई भी काम रहा हो चाहे सीता जी का प्रत्याग हो गया हो और चाहे कुछ और हो गया ऐसे अकेली हो भगवान राम कहीं वहां बसे भी आए हो बच्चे जी ने सोचा हो ऐसे ठंड चलो ऐसे समय चलो जब भगवान राम हो तब लगता है समय लक्ष्मण जी भी नहीं है नहीं लक्ष्मण जी से तो कहते तुम जरा जल जाओ भगवान के समय लक्ष्मण जी भी नहीं भरत भी नहीं है पिताजी भी नहीं है अकेले भगवान राम शायद वशिष्ठ भी अकेले में मिल गया है तो ऐसी बातें जैसी वशिष्ठ की वो करनी थी वो नहीं चाहते थे दूसरा सुने हाँ, ये कहते हैं कि मानस पढ़ो तो चित्र को देखो जैसे कि मान लो कोई डायरेक्टर हो उसकी जा रहा हो तो टिफिन करना जा रहा हो टिफिन करने जा रहा हो तो आप सेफ्टी माइंड में करो कि देखो कहाँ कहाँ बैठे हुए कहाँ कहाँ खड़े हुए कैसे कैसे बच्चे पहने कैसे कैसे सबूत है कैसे कैसे है ये आना चाहिए इतना विस्तार इसीलिए करते हैं खड़े में इनका पढ़ते पढ़ते ये चित्र चलना चाहिए भावात्मक चित्र हृदय में बनता जाए वो कल्याणकारी है हृदय को शुद्ध करने वाला है अन्न देने वाला भी है इस प्रकार से आप उसको देखिए सफल तो पठार पादोदक लीला राम सुनो मुनि कह कर जोड़ी अब चीजें जो है वो जब ये सब भगवान ने जो उनका आदर सत्कार करना था दबाल दिया उच्चासन पर और ये सब कर लिया तब बसुती ने कहा कि भाई मैं क्यों आया हूँ मैं तुमको बताऊँ आज बात ये है राम सुनो मुन कहकर जोड़ी मुनि आज उनके सामने हाथ जोड़ते हैं भगवान राम के सामने हम्म, हाथ जोड़ करके बच्चे श्री भगवान राम से कहते हैं कि सुनो राम हम्म, कृपाल सिंह विनती कठमोरी आपके पास धाम है राम है कुछ हम आपसे प्रार्थना विनती करने आए हैं वो आप अब अगर और लोग होते तो, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता लोग बात देखेंगे क्या हो गया तो सिद्धि को आए ये हाथ को जोड़ रहे तो वहाँ राम को जो जो पैर प्रहार करवाते हैं ये आज हाथ को जोड़ रहे हैं इसके मैंने भगवान का कुछ कभी कभी आइए गुरु शिष्य के हाथ जोड़ने लगे तो, तो उसकी जो समझो कि गर्म पानी का क्या आवश्यकता जिसे हम्म। लोग यहाँ तो अकेले में है तो भगवान समझ गए कि बच्चे भी हमको इस समय कृपा निधान अक्रम परमात्मा आनंद सिंधु के रूप में देख रहे हैं इसलिए हाथ जोड़ रहे तो कोई बात नहीं भगवान भी समझ गए अगर कोई दूसरा होता तो बड़ा गाना हो जाता मुख्यमंत्री होते तो भी लगता कि क्या करना रख दिया सीताजी रोटी तो भी गड़बड़ हो जाता है इसलिए अकेले भगवान राम है तो बस इसी हाथ जोड़ते हैं उनसे तो कृपा संत विनती कचंगोरी हे भगवान आज आपसे हमें कुछ विनती करनी है आपका निदान है तो क्या विनती करनी कहते हैं किसी के देवी आचरण तुम्हारा हो तो मोह मम हृदय तारा आपकी लीलाएं तो मैंने पहली बार देखी है जब देखी लीलाएं आपने अवतार दिया और मानवी सही धारण किया तो परम परमात्मा होकर के ही आप ऐसे व्यवहार करते हो जैसे बिल्कुल मनुष्य करता हो तो कभी कभी हो तो मोह मन हृदय तारा हमारे मन में मोह उत्पन्न हो जाता है मोह उत्पन्न हो जाने का तात्पर्य केवल यही हो कि ऐसा लगने लगता है कि आप परम परमात्मा हो ही नहीं मेरे मन से अब देखो कोई एक्टर एक्टिंग करे तो कौन एक्टिंग सबसे अच्छी होगी जब आप एक्टर को जो असली रूप उसका पहचान न पाओ जो एक्टिंग पड़ गया सभी ये सब कौन एक्टिंग कर रहा है आप जानते हैं एक्टिंग हो रही है हम पिक्चर देख रहे हैं लेकिन आप उसको पहचान न पाओगे पिक्चर कौन है तो आपको लगेगी पता से बिल्कुल उसी में भाव में भाव हर करके उसी प्रकार कर लगे तो कहा कि आपने ऐसी अच्छी एक्टिंग की कि बिल्कुल हमको लगने लगा कि मनुष्य मात्र जैसे हो जैसे आप करते रहो ये वो हो गया रामचरित मानस में आप देखोगे कि भगवान की लीलाएं जो है वो तुलसीदास ने कहा देखो भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत है उनकी लीलाओं को देख करके बहुत ज्ञानी व्यक्ति होंगे वही मोह से बचेंगे और अज्ञानी होंगे तो उनका मोह भर जाएगा और रामचरित मानस में कई जगह दिखा भी दिया कि देखो कितने कितने लोगों को मोह हो गया आप देखोगे तो बाल्यकाल में है कालभूषण जी को मोह हो गया वो कथा बाद में आएगी भगवान जब बड़े हुए और जनकपुरी में पहुंचे तो वहाँ आप शास्त्र देख लेना ब्रह्मा जी भी आए देखने के लिए शंकर जी के साथ में विवाह मिला उस समय ब्रह्मा जी को मोह हो गया ब्रह्मा जी कहने लगे कि जनकपुरी में यहाँ हम जो कुछ देखते हैं यहाँ हमारी रचना तो कुछ नहीं क्या है वहाँ ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया फिर भगवान राम जब बनने में गए तो बन में सीता जी को मोह हो गया जब लंका में भगवान पहुंचे और युद्ध होने लगा रावण से तो नारद जी ने गरुड़ को भेज दिया नागपा के लिए तो वहां पर जब पहुंचे तो उन्हें गरुड़ जी को मोह हो गया गौरी भागे भागे करने लगे मोह से जाते होकर अब यहाँ देखते यहाँ करके कि रामराज की स्थापना हो गई तो बस जी को मोह हो गया कैसे कैसे मोह हो जाता है मन कंफ्यूजन होने लगता है ये बात जो है कि वास्तव में परमात्मा क्या परमात्मा की लीला क्या है कैसा जीव कैसा जगत कैसा नाटक ये सब क्या मामला जो वो बुद्धि में समाये नहीं ठीक ठीक क्लियर न हो तो ये मोह उत्पन्न हो जाता है वशिष्ठ जी का चाहे मोह हो रहा है ये अंतिम मोह की बात है इसके बाद और कोई कथा मोह की नहीं आती वो तो वशिष्ठ जी आएगी वो बाल काल की आएगी प्रारंभ कभी कहते हैं कि आचरण तुम्हारा आचरण देख करके मोह होता आचरण के मैंने हो परमात्मा व्यवहार जैसे करते जैसे कोई मनुष्य हो इस प्रकार से देखते हो तो मोह मम हृदय अपारा महिमा अमित देख नहीं जाना लेकिन बच्चे जी कहते हैं हम मोह तो होता है लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि हम जानते भी जब हम याद करते हैं होश आवाज में आते हैं तो नहीं लगता कि नहीं ठीक है आप परमात्मा ही हो और आपकी ही महिमा समस्त देवे में गाई और महिमा में एक बात भगवान के लिए महिमा देवे ने इसलिए नहीं जाएगी पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है अनादि अनंत है निस्तार में लेख खंड इत्यादि इत्यादि है ऐसी बात नहीं है वेदों ने भगवान की यही महिमा गाई है की होनी से माया ने सारी जगत की रचना की है नाम रूपात्मा के शक्ति ब्रह्मांड की रचना कोटि कोटि ब्रह्मांड नाम रख दिए वो भी सब बना दिए तमाम जीव उत्पन्न हो गए जीव परमात्मा का जीव जितने जीव है परमात्मा के रूप है उसी के प्रतिबिंब है लेकिन जीव परमात्मा को भूल गए वे अपने चारों तरफ होकर भटकने लगे ये सत्या का जितना भी है तो सब वेदों में कहा गया ये सब भगवान की महिमा ही है ये जगत भी है भगवान की महिमा है जीव इसलिए अपने रूप होकर के अज्ञान में सब फैले हुए कि जीव नाम का कोई अलग व्यक्ति नहीं है ये परमात्मा की अपनी लीला वही एक तरफ ज्ञानी होकर के परम परमात्मा है और वही दूसरी ओर से अज्ञानी होकर के जीव भी है जब लोग ये कहते हैं जीव की कहते हैं कि परमात्मा ने क्यों हमें अज्ञान में डाला परमात्मा ने हमें क्यों इस प्रकार से बताया परमात्मा ने ऐसे जगत क्यों बनाया तो उनका ये प्रश्न ही गलत क्यों कि वो परमात्मा ही तो तुम्हारे रूप में होकर के इस प्रकार से इस स्थिति में स्थित तुम अलग से कौन होते अगर तुम परमात्मा से भिन्न कोई होते एक तो ये शिकायत कर सकते थे कि हमें अज्ञान में डाला और परमात्मा ही तुम्हारा रूप धारण करके अज्ञान की लीला कर रहा है तो आप शिकायत करने वाले कौन होते चीज तो महिमा है महिमा होने तो वेद नहीं जाना कहते हैं देखो कि वेदों की महिमा जो वो वेद तक भी आपकी सब महिमा नहीं जानते वर्णन करते हैं तो इसलिए आदि तक ये कहने कि वेद क्या कहते हैं आपको जब महिमा नहीं कर पाए वेद ने भी नेति कहे वेद बताना जब नहीं उसे कुछ बना दे दो उसे तो नेति नहीं परमात्मा ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं निषेधात्मक रूप में बोले यदि आप लोग नहीं बोल पाए तो मैं तो एक भाग कहूँ भगवाना इसलिए आपकी महिमा का वर्णन हम कैसे करें हमको उतना हम तो जो कुछ आपकी महिमा को जानते हैं वेदों के काम से जानते हैं वैसे जी वेदक है वेदों का सब ज्ञान उनको है लेकिन जब वेदों में ही वशिष्ठ जी पढ़ लेते हैं कि वेद भगवान की महिमा नहीं बोल पाए तो वशिष्ठ जी कहते सर मैं क्या वर्णन करूँ जब वेद नहीं आपकी महिमा को जानते हैं तो वेदी हमारे पर जो कुछ हमें ज्ञान आपका है वेद क्या करें इसलिए मैं किस प्रकार से आपको कर्म करूँ आप तो भगवान ही आप कहते हैं कि उपरोहित अति मंदा जैसे हमने इतने दिनों आपके वंश में यहाँ पर पुरोहिती का काम किया हम्म, और ये काम बड़ा खराब मंदा मैंने खराब काम वेद पुराण स्मृति कर निंदा कि वेद पुराण और स्मृतियाँ इस प्रवृत्ति करने की निंदा करती बहुत से लोग जो इस सफाई को पढ़ लेते हैं फिर रोटी कर्म नहीं करते भागते हैं ये बड़ा खराब बस इसी बता रहे बड़ा खराब काम क्या खराब काम है आप किसी के जजमान के पास जाओ उससे पूजा कराओ उससे यज्ञ कराओ हवन करवाओ ये सब करो और उसके बदले में फिर उससे पैसा दक्षिणा दो तो दक्षिणा देगा दक्षिणा देगा तो क्या होगा उसकी पुरोहित की जितने पाप पाप है वो सब उसने बेच दिए अपने पैसा देकर जहाँ पुरोहित ने पैसे ले लिए उसका अन्न खा लिया तो उसके जो जजमान है उसके पाप पर भागी हो बन गया अब वो घर जा करके अब तो एक लाख मंत्र जब करे गायत्री गए और हम जितना उसने पाप करा हुआ उसका प्रक्षालन करेंगे तब उसका उद्धार हो नहीं तो उसके उसके ऊपर के ऊपर सब उसके पाप उसके चलते जाते चलते जाते फिर बाद में क्या होगा अगले जन्म कुत्ता होगा हाँ, आप ऐसी कहते हैं हम जानते थे कि प्रवृत्ति करने से अच्छा काम नहीं लोग बात ये भी कहते हैं कि देखो इतना अच्छा कार्य कर पंडित जी अपने लोग में पहुंचे क्या पूजा करा समाज में निंदा भी करते हैं कोई ये पड़ोसी कर्म कई प्रकार से निंदनीय हो तो वो भी कर्म हमको करना पड़ा जैसे कि हमको क्यों करना पड़ा जब नन्हे में तब दीदी मोही दीदी बने ब्रह्मा जी की बात ये ब्रह्मा जी के बच्चे से ब्रह्मा जी के पुत्र है तो कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि तुम जाओ रघुवंश में प्रभु बने वहाँ तुम काम हैं तो बच्चे जी ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से मना किया ऐसी के प्रवृत्ति का उद्धार नहीं करेंगे ये तो अच्छा नहीं है शास्त्रों में प्रकार का वर्णन है जब हमने उसको मना किया तब जब लगे में तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि कहा लाभ आगे सुख तो ही इसे यहाँ स्पष्ट कर दिया कि सुख है उनके ब्रह्मा जी के बच्चे इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र देखो अभी तो तुमको खराब लग रहा प्रवृत्ति कर्म लेकिन चाहे खराब खराब अच्छा हो ये सब कर्म अच्छे हो जाते हैं जिन कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति होती है तुमको ये कार्य करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी इसलिए तुम जाओ इस कार्य को स्वीकार करो तो समझना समझ में आ गई ब्रह्मा जी की बात कि भाई इसमें क्या होगा कि परमात्मा ब्रह्म रूपा कि जब रघुवंश में जब जाओगे तब हो सकता है कि दो चार राजा होंगे वे लोगों के सत्संग स्तर की प्रवृत्ति दान करना पड़ेगा लेकिन कृष्ण उसी वंश में परमात्मा ब्रह्म न रूपा वही परमात्मा जो है वो ब्रह्म जो है वो न रूप धारण करके अवतार लेगा तो ये रघुकुल भूषण भूखा वो रघुवंश का भूषण होगा और भूप बनेगा राजा बनेगा अयोध्या का तो उस समय जब आप होंगे तो फिर भगवान के दर्शन गुरु को प्राप्त होंगे हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है परमात्मा प्राप्त करना उसके दर्शन प्राप्त करने इस प्रकार से तुमको तो उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे तो हम तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं तो देखो इसमें एक बड़े रहस्य की बात यह है कि कर्म वही निंदनीय है और निकृष्ट कर्म वो है जो परमात्मा से हमको दूर करे और जो कर्म हमें परमात्मा के निकट ले जाए वो कोई भी कर्म हो कोई भी खराब कर्म नहीं कोई भी जमीन कार्य नहीं कर्म स्वयं अपने आप में न भला है न बुरा है जो कर्म परमात्मा से हमें दूर करता है वो बुरा का जो कार्य में परमात्मा के निकट ले जाता है परमात्मा को प्राप्त करा देता है वही कार्य सर्वोत्तम संप्रदाय की बात है अपनी अपनी बात आ जाती है विवेकानंद जी का जब प्रवचन होता है और वहाँ ब्रह्मानंद वगैरह और सन्यासी स्वामी हुए तो जब प्रवचन उनका होता है तो रामकृष्ण परमंश की बार बार बात आती है यहाँ कहीं उनका उदाहरण देते रहते ऐसी करके हम लोगों को भी बीच बीच में स्वामी जी की बात याद आती रहती गुरुदेव की बात वो भी इस विषय में क्या कहते रहे आपको बताया होगा एक बात जो है बॉम्बे में ये एक महिला दिल्ली की थी और वो स्वामी जी के पास आश्रम में थी उनकी सेवा में लगी उनकी बार बार उनकी सेवा में रहते हुए स्वामी जी से कहें कि स्वामी जी को सेवा बताइए तो सेवा बताइए स्वामी जी सुन लेते हम ये बीज जानते हैं बीज जानते हैं कोई अनुवाद अनुवाद का काम हो तो कुछ बताइए ये काम हो तो बताइए तो उन्होंने तो सर आपके पास से तो कोई थोड़ी देर का कुछ काम बता देंगे उस प्रकार कुछ हो जाएगा तो स्वामी जी ने जो है वो तमाम उपनिषद तब तक छप गए थे उनके जो तीन उपनिषद छप गए थे और किताबों उनकी छप गई थी इंग्लिश में तो वो सब लेकर के उन्होंने मंगवा करके और अपनी देवी की तरफ दोबारा जब वो आई चिल्ला कौन उनके सामने भी किताबें रखी दी लोग उनकी किताबें ले जाओ तो उन्होंने उठा कर किताब देखी बहुत अच्छी है ये तो स्वामी जी हमारे पास किताबें हैं अरे तुम्हारे पास होंगी होंगी इनको और ले जाओ इसलिए आज देखो इन सबका हिंदी में अनुवाद कर दो और वो ढेर भर व्यक्ति हजार प्रश्न देखे तब उनके छुट्टी छूट गए अच्छा उनके बच्चे वो इतना तनाव अब वो कहें कि ऐसा नहीं होगा इसका बहुत बड़ा काम हो गया आपका उनसे कहा कि your life in translation book चलो आप ले जाओ फिर उनकी हिम्मत नहीं बड़ी किताबें कहा कि देखो अब किसको किसकी किसका उद्धार किस कारण है वो डिस्कशन नहीं आता बहुत तो सी बात है ये प्रैक्टिकल गाइडेंस इस प्रकार कोरोना में जो हो तो चुपचाप उठाई सब किताबें ले गई उसके बाद में उन्होंने हनुमान जी उपनिषद मुंडक उपनिषद दो तीन उपनिषद में ट्रांसलेशन किए उसके बाद में सब तो वो बीमारी मार हो गई सब उनसे किया वो थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया है तो ये देखते हैं कि देखो ये जो है उसी प्रकार से जैसे कि ब्रह्मा जी ने कश्यप जी को जबरती करके प्रवेश कार्य में लगा दिया उसी प्रकार से ये है शामिली देवी उनको प्रश्न के काम में अब कौन किसका उद्धार किस कार्य में है कैसे करते है ये ब्रह्मा जी जानते थे और श्री क्या पता है हमको क्यों इसमें लगाए दे रहे हैं क्या बात तब उनको समझाया देखो तब मैं हृदय विचारा विजोग यज्ञ प्रतदान वशिष्ठ जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा तब हमने भी स्वीकार किया इसके माने ब्रह्मा जी हमारी हित की बात कह रहे हैं तो कोई हित की बात नहीं है सब जितने भी योग साधना की जाती है यज्ञ किए जाते हैं वृद्ध किए जाते हैं दान किए जाते हैं जितनी भी नाना प्रकार की साधनाएं हैं उन समस्त साधनाओं का अंतिम उद्देश्य क्या है जाता हूँ सौ पाई हूँ जिसके लिए ये सब साधनाएं की जाती है वो हमको इसी प्रकार से प्राप्त होगा और इसी कार्य से ये प्राप्त होगा तो ठीक है यही कार्य करते हैं धर्म नहीं समान तो कहते हैं हमारा कर्तव्य कर्म इसके समान कोई दूसरा नहीं था ये बात हमारी समझ में आ गई इसलिए प्रवेश कर्म हमने स्वीकार कर दिया धर्म कि माने कर्तव्य कर्म यही हमारा भावी था यही हमारा कर्तव्यकारी था इसलिए पुरोहित हमने स्वीकार कर ली इतने दिन तक इसमें पुरोहित कार्य किया हमने और फिर आपने अवतार दिया तो इतने दिन आपकी लीला देखी आपके दर्शन प्राप्त किए तो उसको हमको प्रकाशता हुई प्रकाश को प्राप्त हुई तो ऐसे दर्शन जीवन भगवान से जुड़ती आज